रब्बी शरहली सदरी वयसरली अमरी वहलुलदतम लिसानी यफ़ा कौली अलहमदिल्ला वहदा वसलात वसलाम अला मल्ला नबी वादा वाला आलि व असहाबी लजीना औफ अहदा अम्मा बादू फ़ाउज़बिल्लाशैतानरजीम बसमिल्लर रहीम قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله वाला आली का व सहाबी का या हबीब अल्लाह मौला यसली वसलम दाइमन नबदा अला हबीबी का खैर खल्क कुल्लिम मुनज़म अन शरीकिन फ़ी महासिनी ही फ़जहरुलहसन फ़ी गैर मुनकासिमी या अक्रमल खल्क माली मन अलूजुबी सिवा का عند حلول الحادث العمامي محمد تاج رسل الله قاطبتا محمد صادق الأكوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صلی وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم अल्लाह तबारक वाली ताली जल्ला जलालू वाम नवालू व तम बुरहानू वाजमा हो व जल्ला ज़िक्र वाजा इसमू की हमदोसना और हजूर सरवर कायनत मफ़र मौजूदात जीनत बज़म कायनत दस्तगीर जहाँ गम गुसार जमां सैद सरवरंग हामी बेकसम कायदुलमरसलिन ख़ातमनबीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला अलैहि वबारक वसलम के दरबार गहरबार में हदिया दरुदसलाम अर्ज़ करने के बाद नहत ही मज़ व महतशम हजरात ख़वातीन रबेजुलजलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें माह रबी अव्वल शरीफ माह रमज़ान शरीफ की बरक़ात से बर होने का ये मौका अता फरमाया और रमज़ान मुबारक का अशराय निजात अज नार जहन्नम रवान दवा है मेरी दाह रबाल हम सबको को नार जहन्नम से आज़ाद अता फरमाए और खाल के कायनात जलाल जलालू सबको फिर फिरदौस के बाला खानों में बुलंद मकाम अता फरमाए आज हमारे खुतबा मुबारक का मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात किस नंबर तेरह मेरी दुआ है खाल के कायनात जल्ला जलालू हम सबको असरार रमूज कुरान का दर्क अता फरमाए और इसे आगे पहुंचाने की तोफीक अता फरमाए हमारा ये मौजू भी साल हासाल से आने वाला मुसलसल मौजू है कि जिसमें कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयात का मफहूम वाज किया जाता है वो आयात जिनको गलत नज़रियात वाले लोग गलत रंग देकर पेश करते हैं इस सिलसिला में यकीन बहुत से अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने पहले बारह के बारह वो मौजूद जो तकरीबन ग्यारह सालों का वो मौजू है एक साल में दो हुए थे बाकी सालाना एक मौजू होता है और इस लिहाज से अब वो तेरहवीं किस्त है मफहम कुरान बदलने की वारदात की जिनमें से एक जिल्द छप चुकी है और दूर दराज तक अल्लाह के फजल के उसके असरात पहुंचे हैं यहां तक कि मुदरसिन दरस निज़ामी ने उस किताब को उन खिताबात को आगे अपने अपने हलकों में अपने अंदाज उसलूब में पेश किया है आज सुबह फामदीन कोर्स में हां हां रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग ए पाँव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है ये मौजू तकरीबन डेढ़ घंटा आपने समाप्त किया जिसमें रसूल अल्लाह सल्ला वसलम के दर पाक की तरफ सफ़र और वहां हाजिरी का जो तरीका है उम्मत मुस्लिमा का मुख्तलिफ सदियों का जो अमल है और कुरान सुन्नत में जो उसका शरी हुक्म है उसको बयान किया गया अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना सवाल करना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता फरमाना और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजानों का होना ये वो अमर है जिस वक़्त हमारे जेर बहस है इस लिहाज से कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह अनाम की आयत नंबर 50 कुछ लोग इस नीयत से पढ़ते हैं कि उनका मकसद है कि रसूल अल्लाह वसल्लम की शान इतनी बड़ी नहीं जितनी लोग मोमिन बयान करते हैं बल्कि वो माजल्ला एक बेख्तियार बेबस और मजबूर इंसान थे इस सिलसिला में लाहौर में एक बदबक ने वो बोर्ड चौक के करीब पूरा बोर्ड आवेजा किया इस आयत को लिखकर और फिर उसने और उसके हवारियों ने उस सिलसिला में आगे कई गलत प्रापोगंडे किए हैं हमारे बहुत से शहरों में इस तरह आयात का इस्तेमाल कि जिसमें वो अपने तराशे हुए मफहूम को सामने रखकर आयत के जरिए से उसको आगे लोगों में फायर करते हैं और पहुंचाते हैं और इस तरह एक फितना वर, फितना परवरी और फिर कवारीत का माहौल पैदा किया गया है तो हम ये चाहते हैं कि हम कुरान मजीद की आयात को कुरान की रोशनी में और सुन्नत की रोशनी में बयान करते हुए उनकी हकीकी मफहम को वाज किया जाए ताकि किसी तरह का कोई इंतशार इफ्तराक उम्मत में ना हो और वही सुफ़ा वाले जो नज़रियात हैं वो आज भी उम्मत में राइज रहें रबाल ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कुल ला अकूलकुम दी खजा इनुल्ला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये फरमा दें ला अकूलकुम मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने वला आलमुल गैब और मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद गैब जान लेता हूं वला अकूल अकूलकुम इन्नी मलक मैं ये भी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूं इन हा इलई मैं उसी की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वाही की जाती है अब ये आयत करीमा बहुत से लोगों ने इसके स्टिकर छपवाए हुए हैं और इसको अपना नजरिया समझ के इसको पेश करते हैं यहां पर सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्ला ने तीन चीज़ों की नफी की है जिनमें से दो का ताल्लुक वस्फ के साथ है और एक का ताल्लुक ज़ात के साथ है जो ज़ात के लिहाज से है उसमें तो मजाज नहीं आता लेकिन जो वस्फ के साथ है उसमें मजाज का दखल होता आपने कहा कि मैं फरिश्ता नहीं हूं तो ये वो चीज है जिसका ताल्लुक बरह रास्त जात के साथ है तो इसमें दो तकसीमें दो किस्में दो हैसियात नहीं बनेगी कि कहा जाए कि हकीकतन तो मलक नहीं मजाजन मलक हैं रब्बुल जलाल ने उनको करोड़ों जो मलक है उनसे बड़ी शान अदा फरमाई है मलक तो उनके दर दर के दरबान हैं बाकी दो बातें जो आगाज में कहीं ला अकूर लकुम इंदी खजा इनल्ला मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं वला आलमुल गैब और मैं अपने तौर पर गैब जानता हूं ऐसा नहीं है यहां पर दो चीजों की नफी की सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्ला वसलम ने एक तो इल्म गैब की ला आलमुल गैब मैं खुद गैब नहीं जानता ये खुद का लफज जब तक नहीं लगाएंगे उस वक्त तक कुरान का आपस का आयात का मजमून का इतिहाद बरकरार नहीं होगा क्योंकि अगर यहां पर नफी हो तो दूसरी जगह जो इस बात है तो आपस में टकरा जाएंगे रबुल जलाल इर्शाद फरमाता गैब फला यूजिर अला गैबी अहदा इल्ला मनिर तदामिर रसूल अल्लाह गैब जानता है अपने गैब का किस पर इजहार नहीं करता लेकिन रसूलों में से जिसे चाहे उसको दे देता माकान अल्लाह युतल अकमल गैब अल्लाह जज तभी मेर रसूल ही मैं यशा अल्लाह की यह शान नहीं है कि तुझे गैब दे लेकिन अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है गैब अता फरमा देता है तो अब उन आयात के साथ आपस में तदबीक तब हो सकती है कि जब उनमें जो इस बात है वो और चीज का हो और यहां जो नफी है वो और चीज की हो अगर दोनों एक ही चीज की नफी इस बात हो जाए तो फिर कुरान में तारुज आ जाएगा आपस में टकरा जाएगा हालांकि इसके कुरान होने की दलील क्या है अल्लाह फरमाता फला ये तदब्बरून कुरान वलोकान लवाजादूफी इख्तलाफन कसीरा वो लोग क्या कुरान में गौर नहीं करते अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो इसमें बड़ा टकराव होता चूंकि ये अल्लाह का कलाम है इसमें कोई टकराव नहीं है ये एक तरह की बात करता है आपस में अपनी बात को रद्द नहीं करता तो फिर कुरान के कुरान होने का तकाजा यह है कि नफी और चीज की हो और इस बात और चीज का हो अगर एक ही चीज की नफी हो और उसी का ही इस बात हो तो फिर तो कुरान के कुरान होने के खिलाफ है तो इस वास्ते जिन आयात के अंदर इस बात है और वो तफसीलात हमारी तकरीबन चालीस किस्तें जो हैं चालीस उनमें वो मौजूद है जो इस बात है वो ये है कि नबी सलाम अल्लाह की तरफ से जानने वाले हैं और जो नफी है वो इस चीज की है कि अपने तौर पर जानने वाले नहीं हैं लिहाजा जो कहा वला आलमुल गैब मैं अपने तौर पर जानने वाला नहीं हूं अगर ये खुद जानना अपने तौर पर ये लफज नहीं होंगे तो फिर उन आयात से इस आयत का तारुज आ जाएगा तो तारुज से तब बच सकते हैं कि जिस वक्त ये मतलब सामने रखा जाए कि वहां जो अल्लाह की तरफ से उन दो आयात में जिक्र किया गया तो वो यह है कि रब मुतले करता है रब इजहार करता है रब दे देता है और यहां जो कहा नहीं तो फरमा मैं अपने तौर पर नहीं जानता मैं रब के देने से जानता हूं तो इस वास्ते इन आयात के इस उसलूब से यह बात मुन होती है कि यहां पर नफी अपने तौर पर जानने की है और अल्लाह की अता की नफी नहीं है बाकी इसकी तफसील में इस वक्त मैं नहीं जाऊंगा चूंकि इसकी हमारी जो किस्तें हैं वो चालीस से जायद हो चुकी हैं जिसमें हमने इस मजमून को बयान किया है अब यहां पर खजाइन अल्लाह के मालिक होना जिस तरह दूसरे मकाम कुल्ला अमले को तो इसमें भी दो जहते हैं एक है अपने तौर पर मालिक होना और अपने तौर पर खजाइन वाला होना और दूसरा है अल्लाह की तरफ से दिया जाना इन दो बातों में फर्क है नबी सलाम ने यह जुमला इसलिए बोला कि ताकि जो ईसाइयों का नुकता नजर था उसका रद्द हो जाए यानी उन्होंने हजरत ईसा को मुस्तकिल बिजात समझ लिया उन्होंने हजरत ईसीम को अल्लाह का बेटा समझ लिया उन्होंने हजरत ईसीम को रब के मुकाबले में एक इथाल्टी समझ लिया कि अगर रब ना भी दे फिर भी ये हमें देंगे अगर रब रोके फिर भी ये हमें अता करेंगे तो मेरे नबी सलाम ने फरमाया कि नहीं मेरे पास कुछ नहीं जो देता हूं रब का दिया हुआ देता हूं आपने इस बुनियाद पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह ने फरमाया ने कह दो कि कोई और बिगड़े हुए अकीदों वाले जो पहले लोग हैं वो ऐसा अकीदा तुम्हारे बारे में ना रखे जो इस वक्त की कौम है जिनको तुम खिताब कर रहे हो उनमें मुशरकिन भी हैं उनमें जहूद नसारा भी हैं उनको बरह रास्त और बिल वास्ता जो सुनने वाले मोमिन हैं उनको भी अपने अकीदे की वजाहत होती रहे कि ये हमारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला जिनके रोजाना मोजात का इजहार होता है ये बड़ी शान वाले हैं मगर फिर भी रब के बंदे हैं ये रब के बेटे नहीं हैं फिर भी ये रब के महबूब है यह किसी लिहाज से मबूद नहीं है इस बुनियाद पर के अपने मुस्तकिल होने की नफी हो जाए कि मैं मुस्तकिल बिजात जात नहीं हूं मेरी जितनी हैसियत है जो है जिससे दुनिया हैरान है ये वो है जो मेरे मौला ने मुझे अता फरमाई है इस सिलसिला में अगर यह मफहूम इसका ना किया जाए तो फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद के मुतद मकाम और नबी सलाम की मुतद अहादीस की नफी हो जाती है इस बुनियाद पर वही मफहूम वाज तरीन मफहूम होगा कि जिस मफहूम के लिहाज से यह सूरत हाल बंदों को मुयसर है कि जिसमें कुरान की दीगर आयात का इनकार भी नहीं होगा और नबी सलाम के फरामीन का इनकार भी नहीं होगा कुरान मजीद बुरहान रशीद में रबाल ने चौथे पारे में यह मसला मीरास को बयान करते हुए इर्शाद फरमाया है आबाकुम व अबनाकुम लातदरून अयुम अकरबुलकुम नफा अल्लाह ताला इर्शाद फरमाता है सूरह निशा के अंदर ये आयत नंबर ग्यारह है आबाउकुम व अबनाउकुम तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे लातदरून तुम नहीं जानते अयुम अकरबुलकुम नफा कि उनमें से तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद कौन है तुम ये नहीं जानते कि उनमें से तुम्हें ज्यादा नफा देने वाला कौन है किन में से आबा में से और अपनी औलाद में से अब यह नफा सिर्फ दुनिया का नफा नहीं यानी नफा जिसकी नफी करके कुछ लोग जश्न मनाते हैं कि चूंकि हमारे नबी इस्लाम नफा नहीं दे सकते लिहाजा हम कामयाब हो गए हमारी फतह हो गई चूंकि हमने आयत पर दी कि सरकार मालिक नहीं है खजानों के सरकार नफा नहीं दे सकते तो कुरान यह बता रहा है कि तुम्हारे आबा भी नफा देख सकते हैं तुम्हारी औलाद भी नफा दे सकती है लेकिन उनमें से तुम्हें पता नहीं कि कौन ज्यादा नफा देने वाला है हैं सारे नफा देने वाले लेकिन उनमें से कुछ ज्यादा नफा देने वाले और वो नफा सिर्फ दुनिया का नफा नहीं कि दुनिया में उनमें से कोई घर दे दे कोई कमरा दे दे कोई लिबास दे दे कोई खाना दे दे यहां पर इस उम्मत की पहली तफसीर जो तफसीर इबन जरीर है उसमें यह लिखा है कि इस नफे से बिलखसूस आखरत का नफा है इस वास्ते कि कुछ वो लोग हैं जिनको उनके आबा की सिफारिश से जन्नत मिल जाएगी कुछ वो है जिनकी औलाद की सिफारिश से जन्नत मिल जाएगी अब आबा भी नफा दे रहे औलाद भी नफा दे रही है और नफा वो कुरान मजीद में मौजूद है किसी का बाप किसी का बेटा उसकी यह हैसियत कुरान में हो और जिनका कलमा पढ़ के बंदा मोमिन बना है जिनके कदमों पर हजारों बाप कुर्बान किए जा सकते हैं वो इतने मजबूर हो और उनकी कोई हैसियत ना हो माज माजल्ला ऐसा नहीं हो सकता नफी इस चीज की है कि फजल खुदा के बगैर कुछ नहीं होता फजल खुदा होता है तो महबूबों से सब कुछ हो जाता है इस सिलसिला में इसकी वजाहत के लिए मैं आपके सामने सही बुखारी शरीफ की वो हदीस शरीफ पेश करता हूं जिसमें हमारे महबूब सलाम ने इस अमर को वाजे किया है यह बुखारी शरीफ की जिल्द नंबर एक है जिसके अंदर सफा नंबर एक सौ उनासी पर यह हदीसरी मौजूद है हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह तु रिवायत करते हैं कहते हैं इन नबिया सल्लाम खराजा यौमन फसल्लाहदिन सलातमैत नबी सलाम एक दिन ओहद के शहीदों के कबूर पर तशरीफ ले गए आपने वहां जाकर ऐसे नमाज पढ़ी जिस तरह के जनाजा पढ़ा जाता है उसके बाद सुमन सराफा मिंबर आप लौट के आए और मिंबर पर बैठ गए अब जो नबी सलाम ने मिंबर पर तकरीर की वही तकरीर आज उनकी दीन की खिदमत के लिहाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं और ये सादत है इस उम्मत की कि इस उम्मत के पास ऐसे वसायल हैं अगरचे दरमियान में चौदह सदियों का फासला है लेकिन फिर भी इसे वही लफज मुयसर हैं जो कभी नबी सलाम ने मस्जिद नबी के मिंबर पे लोगों को सुनाए थे अब ये बुखारी शरीफ में पूरी सनत उसकी मौजूद है मुतद मकाम पर यह हदीस शरीफ मौजूद है जो नबी सलाम ने ओहद से आकर मिंबर पर बैठ के लोगों के सामने तकरीर की और बुखारी शरीफ में संद सही से वो अल्फाज हैं वो अल्फाज मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि दिमाग भी मुअत्तर हो जाए दीन भी मुअत्तर हो जाए ईमान की कान और रोजे की हालत की मजीद खुशबू बढ़ जाए कि हमारे नबी सलाम से हमारा जो प्यार है तो हमें आपके हर नफस से प्यार है महबूब सलाम ने फरमाया फ़काला इन्नी फ़रतुल्लकुम मैं तुम्हारे लिए फ़रत हूं फ़रत का लफज अगर तफसील में जाओ तो मुश्किल कुशा के माना में है फ़रत वो है जो कहीं पहले जाके दूसरों को बंदोबस्त करे तो मैं तुम्हारे लिए फ़रत हूं तुमने बाद में आना है मैंने मैदान माशर में तुम्हारे लिए सब कुछ पहले तैयार कर रखना है मैं फरत हूं फिर वह आना शहीद नलैकुम और याद रखना मैं तुम्हारा गवाह भी हूं क्यामत तक यह ना समझना कि महबूब दुनिया से चले गए हमें कोई देख नहीं रहा पर अब मैं तुम्हारा गवाह भी हूं अब जिस तरह फरत सिर्फ सिहाबा के लिए नहीं फरत पूरी उम्मत के लिए ऐसे गवाह भी सिर्फ सिहाबा के लिए नहीं गवाह पूरी उम्मत के लिए फरमा मैं तुम्हारे लिए गवाह हूं और अल्लाह ने कहा फ़कई जी जिना मिन कुल उम्मत बि शहीद व जिना बिक अला हा उलाय शहीदा बाकी हर नबी अपनी उम्मत का गवाह होगा ए नबियों के नबी तुम सारी उम्मतों के गवाह हो गए तो जो सब के गवाह हैं वो अपनी उम्मत के तो जरूर गवाह है फरमाया मैं तुम्हारा गवाह हूं वन्नी वल्लान फरमा हौजे कौसर को खुदा की कसम मैं अब भी देख रहा हूं यानी ये इशाने हैं ताकि पता चले लोगों को कि नबूवत के सोर्सेज तेज कितने हैं और सलाहियत कितनी बड़ी है कसम उठा के कहा हुआ इन्नी वल्लाह खुदा की कसम में लन जोरो ये नहीं कहा नजर तो नजर तो का मतलब है मैंने देखा लन जोरो का मतलब है मैं देख रहा हूं तो लन जोरो ये इसमियत जुमला है जुमला इस्मिया की खबर जब जुमला फैलिया हो तो वो तजद और दबाव पर दलाल करती है तो मतलब क्या बना यह नहीं कि मैंने माजी में एक दिन देखा माजी में दो दिन देखा माजी में चार दिन देखा फरमाया मैं तो हर घड़ी देख रहा हूं यानी यह सलाहियत है जब तवज्जो करता हूं देख लेता हूं वह इन्नी लनजोरो इलाहवी अपने हौज की तरफ शान देखो मेरे महबूब सलाम की और मिल्क देखो उनका हौज जिसके प्याले सितारों से ज्यादा है उस हौज को सरकार ने अपना हौज कहा आज वो सोच जो चीज अल्लाह के किसी बंदे की तरफ मनसूब हो जाए तो कहते हैं वो खानी नाजायज है वो पीनी नाजायज है इन्होंने अपने लिए हौजे कौसर के दरवाजे खुद बंद कर लिए हैं क्योंकि सरकार ने उसको हौजुल्ला नहीं कहा हौजुल रसूल कहा है हौजी मेरा हौज तब तो मैं अपने हौज को मेरा हौज अब और लोग कौन है कौन है कोई हुक्मरान कोई ताजदार जो क्यामत के दिन एक मुट्ठी को भी कहे कि मेरी मुट्ठी जो मेरी मुट्ठी की कंकरी है क्यामत के दिन तो सबकी बादशाहते बादशाहतें उड़ चुकी होंगी सब बड़ी बड़ी ऊंची कुर्सियों वाले कदमों के नीचे मोम जामे बन चुके होंगे सब ताजवरों के ताज उछल चुके होंगे मगर क्यामत के दिन भी करोड़ों मीलों में फैला हुआ हौज वो सरकार का मिल करार पाया है अरे मेरा हौज अब मेरा हौज अब वो हौज जो अरबों लोगों की प्यास को बुझाएगा वो रब का खजाना नहीं तो और क्या है वो हौज जिससे क्यामत के दिन इंशाला हमारी प्यास बुझेगी सरकार अपने जाम से सबको पिलाएंगे वो हौज हम आज मान रहे हैं कि हमारे नबी का हौज है तो वो लोग कितने महरूमी की तरफ जा रहे हैं जो सरकार के मिल की नफी करके बगले बजाते हैं पोस्टर छापते हैं साइन बोर्ड लगाते हैं कि खुश हो जाओ हमारे नबी के पास कुछ नहीं उन वक्तों को हम बताना चाहते हैं हम खुश हैं कि हमारे नबी के पास सब कुछ है रब का दिया हुआ कि मेरे महबूब सलाम ने फरमाया मिलक मेरा है तो मैं आज ही देख रहा हूं दूसरे देखेंगे क्यामत के बाद मैं आज देख रहा हूं अपने हौज को और ये वो हौज है जिसका पानी सिद्दीक भी पिएंगे शहीद भी किएंगे कुतुब गौस बली भी पिएंगे नबी रुसल भी पिएंगे और लंगर है मेरे नबी सलात वसलाम का इस वास्ते सरकार ने फरमाया था अल्लाह अजवा दो जूदा इस कायनात में सबसे बड़ा लंगर खाना रबेजुल जलाल का है वह आना दो बनी आदम पर रब के बाद पूरी इंसानियत में मेरा पहला नंबर है बनी आदम में सारे नबी भी आ गए सारे रसूल सलाम भी आ गए तो उन सब के मुकाबले में मैं ज्यादा जूद वाला हूं उसकी एक झलक देखो हौज के अंदाज में तो मेरा हौज मैं उस हौज को आज भी देख रहा हूं लिहाजा कुरान मजीद की जितनी आयात में है ला अमले को मैं मालिक नहीं हूं मेरे पास खजाने नहीं है तो उसका मतलब यह बना मैं अपने तौर पर मालिक नहीं मैं रब के बनाने से मालिक बना हूं चूंकि दूसरे मकाम पर तो चूंकि वो एक किस्त हमारी पूरी हो चुकी है उसमें इला माशाला के अल्फाज मौजूद हैं कि जो रब चाहे मैं उसका मालिक हूं तो इला से इससे इसना करके खुद अपना मिल्क साबित किया और यहां खजाइनुल्लाह की जो वजाहत है उसकी अभी तमहीद है अगर आगे खुद लफ्ज खजाना भी आएगा लेकिन यह इजमालन मैं हौज से भी इसको बयान कर रहा हूं कि हौज जो मीलों तक है हौज जो इंसान सवारी पे बैठे कई सालों तक उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकता आसमान के सितारों से जिसके प्याले ज्यादा हैं वो हौज मेरे महबूब का मिल्क है मेरा हौज मेरा हौज और यहां तक के जो हदीस है ना रमजान शरीफ के बारे में जिसने किसी रोजेदार को पानी पिलाया इफ्तार करवाई उसको क्या मिलेगा फरमा सताहुल्लाहो मिन हौजी शरबतन अल्लाह उसे मेरे हौज से पानी पिलाएगा अल्लाह उसे मेरे हौस हौज को फिर भी अपनी तरफ मनसूब रखा हौज मेरा है पानी रब पिलाएगा उसको अल्लाह मेरे हौज से पानी पिलाएगा और फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी तो ये हौस मेरे महबूब सलाम का जिसमें फरमाया मेरा हौज मैं उसको अब भी देख रहा हूं तो इससे पता चला कि मेरी उम्मत ने मेरे देखने को अपने देखने से जुदा मानना है उनकी आंख दीवार के पीछे भी नहीं देखती मेरी आंख सात आसमानों के पार भी देख रही है क्योंकि जन्नत तो सात आसमानों के पार है तो मैं अपने हौस को इस वक्त भी देख रहा हूं और इसके बाद वो जो हमारा अब मौजू है खजानों वाला फरमा वो इन्नी ओ ती तो मफाती हा खजा इन मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां दे दी गई है इन्नी ओती तो ये बुखारी शरीफ के अल्फाज मैं तुम्हारे सामने जो पढ़ रहा हूं इन्नी ओती तो मफाती खजाइन अर्द खजा जमा है खजीना की एल अर्द मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई हैं तो जिसकी चाबियां होती हैं खजाने तो उसी के होते हैं मुझे दे दी गई हैं मुझे अता कर दी गई हैं लफ्ज कितने खूबसूरत हैं जिनमें पूरा अकीदा अहल सुन्नत है मैंने जो तमहीद बयान की उससे अब कैसे वाजे हुआ जो नफी की फरमा मैं अपने अपनी मालिक बना जो इस बात किया फरमा मेरे रब ने अता किया है ओती तो मुझे दिया गया मुझे अता किया गया मफातीहा मिफ्ताह की जमा है चाबियां खजा इन अर्द जमीन के सारे खजानों की अरे जो सारे खजानों का मालिक हो उसे भला नादार कौन कह सकता है उसके हाथों को खाली कौन कह सकता है उसके देने का इनकार कौन सकता कर सकता है जो खजाने रब ने दिए तो फिर झोलियां भरने के लिए दिए खजाने जो रब ने दिए तो लोगों को नवाजने के लिए दिए कितनी वो मुरझाई हुई सोच है जो सरकार की तरफ से झोली भरने के जुमले पर एतराज करती है कि यह कैसे हो तक है भर दो झोली मेरी या मोहम्मद ये लफज इनको शिरकिया कहा जा रहा है सिटिकर छापे जा रहे हैं अगर ये शिर किया है तो माजला सरकार की तकरीर को क्या कहोगे जो सरकार ने मजमा आम में बैठकर तकरीर की मुझे खजाने दे दिए गए अब जिसके पास खजाने हों अल्लाह की तरफ से दिए गए हैं अब वो तो झोलियां भर सकता है सखी इस अंदाज का है कि इतना कोई सखी नहीं उनकी हैसियत और खजाना देने के लिए भी इतना मौजूद है कि एक खजाना नहीं खजान है तो मेरे महबूब सलाम ने अपने लफ्जों से कुरान की तफसीर बयान की आज जो अपनी मन गणत तफसीर बयान करेगा हम उसको मुस्तैद करते हैं और जो तफसीर सरकार तो वसल्लम ने बयान की है और सही बुखारी में आई है हम उस तफसीर का झंडा लहराने वाले हैं सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लाम ने फरमा ओ थी तो मुझे दिया गया यहां भी बताया गया मैं अपने आप नहीं रखता रब का दिया हुआ मेरे पास है ओ थी तो मुझे दिया गया मुझे क्या मफाती खजा इन अर्थ जमीन की तरफ खजाइन को मनसूब किया और खजाइन खजीना की जमा है रब मुझे ये अता कर दिए गए अब यहां बड़ी बदकिस्मती है उन लोगों की जो एक बार इनकार कर बैठे जैसे एक झूठ पर हजार झूठ बोलना पड़ता है एक बार इनकार कर बैठे तो अब हाथ पांव मारते हैं कि कहीं ना कहीं तो हमारा गुजारा हो अब इस हदीस पर उनका तबसरा यह है यह तो ख्वाब की बात थी ये ख्वाब की बात थी ख्वाब में कोई खजाने दिए जाते हैं बस ख्वाब तो ख्वाब होता है तो मैं कहता हूं बेवकूफ हो यहां तो ख्वाब का जिक्र नहीं यहां तो सरकार के मिंबर पे बैठ के बयान करने का जिक्र है जो ओहद में गए तो जागते गए ओहद वालों को स्वाब पहुंचाया तो जागते पहुंचाया पैदल चल के आए तो जागते आए मिंबर पे बैठे तो जागते बैठे तकरीर की तो जागते की अगर पहले जुमले जागते बोले हैं तो खजानों वाला भी जागते बोला है और जागते बोलते हुए जगा दिया है ओती तो मफाती हा खजा इन अर्द मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई और दूसरी तरफ मफाती हर लर्द मुझे जमीन की चाबियां दे दी गई तो सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुआजम सल्लम ने अपनी शान जो खुद बयान की है उसके लिहाज कितना खूबसूरत अंदाज सही बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसी हदीस में इस तकरीर का आखिरी हिस्सा ही वो है जो आज हमारे इदारा सरात मुस्तकीम का मंशूर एक अंदाज में जिसको हम अकीद तो ही सेमिनार में बयान कर रहे हैं सरकार ने फरमा वल्ला ही मा आखाफ अलीकुमन तुशरिकू बादी खुदा की कसम है मुझे मेरे बाद तुम्हारे मुशरक होने का कोई खतरा नहीं है वला किन्नी अखाफ अलिकमन तनाफसूफी हा मुझे तुम्हारे दुनिया में डूब जाने का खतरा है कि दुनिया की मोहब्बत आ सकती है मगर तुम्हारे मुशरक होने का मुझे कोई खतरा नहीं है तो ये बुखारी शरीफ से जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की मुस्लिम शरीफ में भी हु बहू ये अल्फाज मौजूद है ये मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर दो के अंदर सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम के ये अल्फाज ये 250 सफा है सही मुस्लिम शरीफ का जिल्द नंबर दो ये हमारा मजहब ये हमारा मसलक ये शेरों पर मुश्तमिल नहीं ये किस्सों कहानियों पर मुश्तमिल नहीं ये तो हकायक बयानियों पर मुश्तमिल है कुरान है नबी का फरमान है मेरे महबूब का फरमान किसी रावी में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं और हदीस की सैकड़ों किताबों में यह मौजूद है महबूब सलाम ने यहां पर भी उकबा बिन आमिर कहते हैं सल्ला रसूल सल्लाम अला कतला ओहदिन नबी सलाम ने ओहद के शहीदों की नमाज पढ़ी सुम्मा सायद अल मिम्बर फिर मिम्बर पे जलवागर हुए कल मुद्दिल अहिया वल अम्बात जिस तरह के रुखसत होने वाला अंदाज होता है कि मैं जा रहा हूं दुनिया से अब तुम्हें यह बता के जा रहा हूं इस तरह का अंदाज था अहया और अम्बाद के लिए तो नबी सलाम ने फरमा इन्नी फरा तो कुम अल हौज मैं हौज पर तुमसे पहले पहुंचूंगा तुम्हारे लिए पानी का बंदोबस्त होगा तुम बाद में आओगे तुम्हारे लिए पानी वहां पर एहतमाम पहले होंगे और फिर यहां पर नबी सलाम ने फरमाया लस्त तो अलीक अक्षा अंतुशरिकु बादी वाला किन्नी अक्षा अलीकम दुनिया मुझे तुम्हारे मुशरक होने का कोई खतरा नहीं मुझे दुनिया का खतरा है अन ततनाफसूफी कि तुम उस दुनिया के अंदर जो है वो गुम हो सकते हो और यहां पर महबूब सलाम ने फरमाया वल्लान खुदा की कसम मैं अपने हौज की तरफ आप भी देख रहा हूं वह इन्नी कद ओ ती तो मफाती खजा इन अर्द मुझे यकीन जमीन के खजानों की चाबियां दे दी गई है कद भी यहां पर इस्तेमाल किया मुस्लिम शरीफ में कद बितहकीक मुझे जमीन के खजानों की चाबियां दी हैं रब्बे जलाल ने लिहाजा ये मफहूम है आयत का और हर गुलाम अपने आका के बारे में कुदरती बात है हर गुलाम अपने आका के इख्तियार सुने तो खुश होता है कि उनके पास बड़ा कुछ है रब का दिया हुआ वो बहुत बड़ी जागीर के मालिक है उनके पास बहुत कुछ है ये कैसे बदबख्त लोग हैं कि जो अपने आप को सरकार का उम्मती कह के सरकार को नादार साबित करते हैं कि उनके पास कुछ नहीं वो कुछ दे नहीं सकते वो कुछ कर नहीं सकते उनकी रब कुछ मानता नहीं है रब जुल जलाल ने खजाने दी हैं मेरे महबूब सलाम को और उन खजानों के लिहाज से उम्मत हर दौर में ये तकाजा ये अंदाज और ये अकीदा रखती रही है कि रब जुल जलाल ने उन्हें नवाजा है और उनकी आगे आदत यह है कि वो इस अंदाज में नवाजते हैं कि जिसे दे देते हैं उसे फिर कोई कमी बाकी नहीं रहती मोहतम साहब हजरा अब इसी मजमून को मजीद आगे बयान करने के लिए यह हदीस शरीफ जो मिशकात शरीफ में मौजूद है इसकी तफसील हजरत शेख अब्दुल हक मुहदस देलवी ने अशियातुल्लुमात में की है यह उसकी जिल्द नंबर एक है सफा नंबर तीन सौ छियानवे है हजरत रबिया रदी अल्लाह तु हमारे नबी सलाम के खादिम है कहता कुल तो अभी तुम्हारा रसूल सल्लाम मैं रात सरकार के साथ गुजारता था क्या शान है हजरत रबिया की कि दुनिया जिनकी एक झलक के लिए तड़प रही है ये पूरी रातें ही उनके पास गुजारते हैं हजरत रबिया रजी अल्लाह तु कहते हैं मैं रात नबी सलाम के पास गुजारता हूं आती है बेवजू ही जब सरकार को वजू करने की जरूरत हुई है तो मैं वजू ले आता हूं वजू वजू के पानी को कहा जाता मैं पानी लाता हूं वहां जाते ही और फिर दीगर मिसवाक वगैरह मैं ले आता हूं मुसल्ला बिछाता हूं मैं रात को खिदमत के लिए साथ रहता हूं अब एक रात दरिया रहमत जोश में आया तो मेरे नबी सलाम ने हजरत रबिया कहते फ़काल अली सल कहा मांग जो चाहो मांगते हो सल सवाल के लिए कहा मांग लो कहते मैंने कहा अस अलू का मैं आपसे मांगता हूं आपसे मांगता हूं सरकार ने जो फरमाया था मांग तो मतलब था मुझसे मांग और समझने वाले ने भी समझ लिया था अस आलो का मैं आप ही से मांगता हूं आपसे मांगता हूं किस चीज को मुराफाकता का फिल जन्ना आपसे जन्नत में आपकी संगत को मांगता हूं सिर्फ जन्नत नहीं मांगता मैं तो जन्नत में आपकी संगत मांगता हूं अब अगर हजरत रबिया ने मतलब गलत समझा होता तो सरकार फरमाते तू मेरा सवाली बन गया तूने तो रब का सवाली बनना था यह है ना हजरत रबीया झोली फैला के बैठे और कहते हैं भर दो मेरे महबूब झोली फैला के बैठा हो अस आलो का मैं आपका सवाली हूं आपसे मांगता हूं और आपसे आप ही को मांगता हूं तुझसे तुझी को मांग के अच्छा रहा मांगता तेरा अस आलो का मुराफाता का मैं आपकी मुराफकत आपकी रफाकत को मांगता हूं कहां जन्नत में फिल जन्ना जन्नत में नबी सलाम ने जब यह सुना तो कहा आगे जवाब में यह नहीं कहा कि तुमने मुझसे डायरेक्ट मांगा इस पर एतराज करते या ये फरमाते से आलम नूर मुजस्म शफी मजम सल्लम अब कुछ देर के बाद तुम्हें जवाब दूंगा सोचूंगा रब से रबता करूंगा फिर तुमने तो बड़ी चीज मांग ली फरमा अवागई रजा लेका अवागई रजा लेका इसके दो माने एक ये है कि तुमने तो बहुत बड़ी चीज मांगी कोई और मांगो तो हजरत रबिया ने कहा हुआ जाका मैंने तो यही मांग ली ये पहला माना अवागई रजा लेका कोई और चीज तुमने बड़ी चीज मांगी इससे कोई छोटी मांगो तो उन्होंने कहा महबूब आपने तो खुद ही फरमाया कि जो चाहो मांगो हुआ जाका मैंने तो यही मांगनी है अब एक माना ये दूसरा नबी सलाम ने जन्नत मांगी है कुछ और भी मांगो आवा गैर रजाले का कुछ और भी मांगो तो कह हुआ जाका महबूब तुम मिल गए तो दौलते कौनैन मिल गई उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद तो दोनों तर्जमों के मुताबिक ग्रामर के लिहाज से जो दोनों यहां पर तराजे बनते हैं उनके लिहाज मेरे महबूब सलाम ने आगे देर नहीं होने दी दो मिनट भी नहीं लगने दिए सिर्फ वजाहत करवाई है कि ताकि अगर पहला तर्जुमा है तो इनको पता चले मामूली चीज नहीं बहुत बड़ी मांगी है और अगर दूसरा है तो फिर इनको पता चले कि यहां सिर्फ ये नहीं और भी बहुत कुछ मिलता है उनसे ये कहलवाने के बाद जब उनका हुआ जाकर महबूब मैं पक्का हूं मैंने यही मांगना है तो मेरे नबी सलात सलाम ने फरमाया फ़ाइनी अला नफ्सी का भी कसरत सजूद फिर मेरे तरीके पे कैम रहना है वही तुम्हें मिल जाएगा मेरे साथ ताउन करो कसरत सजूद के साथ अब यहां पर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद से देलवी ने इस कानून को जिक्र किया जो हमारे पूरे अरबी लिटरेचर में कानून है वो ये है कि मुतलक पर अलासबील इतलाक अमल किया जाता मुकैत पर अलासबील तकयीद अमल किया जाता है तो जो बाउंड्री हो उसके मुताबिक अहकाम होते हैं तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल सवाल कर आगे ये नहीं कहा कि क्या सवाल कर ये नहीं कहा सलील औलाद औलाद का सवाल कर सलील अमवाल अमवाल का सवाल कर सलील रिज्क रिज्क का सवाल कर सलील इल्म इल्म का सवाल कर आगे सवाल को महदूद नहीं किया सल जो चाहे मुझसे सवाल कर हजरत शेख अब्दुल हक मोहद्दस देहली कहते वाज इतला के सवाल के फरमूद सल बखा तखशीस ना कर दो तो मतलूब मतलूब खास कि यह जो नबी सलाम ने फरमा दिया ना मुतलकन मांग और यह नहीं कहा फुला चीज मांग जो भी मांग अब जिसके पास कुछ ना हो वो कैसे ऑफर कर सकता है पेशकश के मांगो जो चाहो इतना कर्म कैसे हो सकता है जिसके पल्ले कुछ ना हो वो कैसे आ सकता है ये पता चलता है कि मेरे नबी सलाम का देने का अंदाज इतना वसी है कि पता था जो भी दुनिया और आखिरत से मांगेगा मेरे खजाने में सब कुछ मौजूद है जो रब का दिया हुआ है ना मांग जो चाहती हो तो शेख अब्दुल हक मदे से दिलवी कहने लगे जो नबी सलाम ने फरमाया है ना मांग बखा मुकैद नहीं किया कि यह खास चीज मांग ले बाकी ना मांग मुतलकन कहा जो चाहो मांग कहते हैं मालूम भी शबद के कारे हमा बदस्त हिम्मत और करामत ओस आपने जो फरमाया ना मांग इससे पता चलता है कि सारी कायनात की चाबियां सरकार के हाथ में हैं जो भी है दुनिया में जिसको जो चाहिए उसकी चाबी सरकार के हाथ में है हर हद हर किरा किराखहद परवर परवरदिगार खुद बदहद हर हद हर किरा किराखहद फरमा जो चाहते हैं जिसको देना चाहते हैं बइजने परवरदिगार खुद बदहद अपने रब की हुक्मते दे देते हैं यानी ये वो सल से साबित हुआ हर चे खहत वह हर के रा हर चे चे का मतलब है जो यानी जिस कैटेगरी की नियमत हो जिस चीज का भी सवाल हो हर के राह का हद जिस सदी का मंगता मांग रहा हो जिस इलाके का मंगता मांग रहा हो जिस जमाने का मंगता मांग रहा हो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद से भी कहते हैं कि नबी सलाम ने यह ऐलान कर दिया सल के साथ कि सवाल का दायरा मकान के लिहाज से भी वसी है जमान के लिहाज से भी वसी है और फिर डिमांड के लिहाज से भी वसी है जो चाहो जिस के लिए चाहो जिस वक्त चाहो महबूब सलाम ने सल कह के वाजे फरमा दिया कि मेरा क्या मत तक का उम्मती कहीं तिशना न रह जाए वो जो मांगेगा अल्लाह के जन से उसको अता कर दिया जाएगा इस मकाम पर यह बात बड़ी काबिल गौर है कि सैद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम वसल्लम की दहलीज पर जो हाजिरी में लोग वहाँ पे दरखास्तें पेश करते हैं उसके लिहाज से ये वफा उल वफा बे अखबार दारमुस्तफ़ा सल नबी सलाम के शहर की खबरों पर मुश्तमिल ये बहुत बड़ा जखीरा उम्मत का जिसको इमाम सम्भूदी ने मुरतब किया इसमें ये उमूर मौजूद हैं कि सरकार झोलियां कैसे भरते हैं और उम्मत मुस्लिमा का इस सिलसिले में हर दौर में अकीदा क्या रहा है यहां पर इन्होंने यह हेडिंग बनाया सुनना तो अहल मदीना फी आवामिल जदब खुश्क साली में अहल मदीना का तरीका क्या है जब कहत पड़ जाए तो अहल मदीना क्या करते हैं कहत पड़ जाए अहल मदीना आज नजदी मुसलत तबका इस अकीदे से बदला है बाकी अहल मदीना आज भी इसी अकीदे पर मौजूद है हर दौर में जो सदियों पहले अकीदा था अहले मदीना का अकीदा कि अगर बारिश ना बरसे तो क्या करना चाहिए बारिश ना हो तो इसके लिए अहतमाम क्या करना चाहिए यह इस अखबार दारमुस्तफ़ा की दूसरी जिल्द में सफा नंबर एक तो तेईस है और ये वहां की ही छपी हुई किताब सऊदी अरब की जिसके अंदर यह तफसीलात मौजूद हैं कहते हैं कोहे तहल मदीना थे कहतन शदीदा अहल मदीना को कहत का सामना हुआ और कहत बड़ा शदीद था और अभी जमाना दूर नहीं था अभी जमाना से हबा किराम अलहमरिदवान का था फशको इला आयशा था रदी अल्लाह तहा वो हजरत आशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहा की खिदमत में हाजिर हो गए अम्मी जान अभी आप जिंदा हो सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और हमें कहत का सामना है मुश्किल पड़ गई है अब हमारी मुश्किल हल करो अब यकीन ये सारे लोग शाबी हैं जो उनके पास गए हैं और उन्हें पता है कि अल्लाह मुश्किल हल करता हजरत आशा सिद्दीका रदी अल्लाह तहा उम्मुल मोमिन है और उमुल मोमिन होने में फिर उनकी इम्तियाजी शान भी है कि नबी सलाम ने फरमाया आधा दीन आयशा सिद्दीका उम्मत को पढ़ाएंगी हुजूर शतरा दीन कुम अपने दीन का आधा हिस्सा तुम इनसे ले लेना वो सैयदा फकीहा मुजतहिदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तला जिनके बारे में हजरत अली रजी अल्लाह तहो भी ये फरमाते हैं जब हमें मुश्किल पेश आती है तो आयशा सिद्दीका हमारी मुश्किल हल कर देती हैं यानी मदीनातुल्म के बाप ये बात जो है ये पूरी तफसील एक गुसल के मसले के लिहाज से हजरत अली रदी अल्लाह तहाबा में जब इख्तिलाफ हुआ तो रबता किया इन किबार सिहाबा ने हजरत आशा सिद्दीका से और हजरत सलमान फारसी हजरत गफ्फारी किबार सिहाबा का यह कौल है कोई मकाम ऐसा नहीं आया कि हमने अपनी अम्मी से रबता ना किया हो और उन्होंने मसला हल ना किया हो वो हमेशा मसला हल करती हैं इमाम तहावी ने शरा शरामानिल आसार तहावी शरीफ में उसको तफसील से लिखा है अब शिकायत की गई जिस वक्त हत आशा सिद्दीका रदी अल्लाह तला के पास कि बारिश नहीं हो रही कहत पड़ गया तो उन्होंने क्या कहा कालत वह कहने लगी फन शुरू कबर नबी सल्लल्लाहु जाओ तुम मेरे नबी सलाम के रोजा पाक पर फंजरू कबर नबी सल्लम फज अलू मिन हो कुतन इलसमा कबर के ऊपर जो मेरा कमरा है ना उस कमरे में जहां नीचे सरकार की कबर है जहां चेहरा मुबारक है उस ऊपर छत में सुराख कर दो जो मेरे हुजरे की छत है उसमें सुराख करो ये उम्मल मोमिन बता रही कोई बिदत औरत नहीं बता रही उम्मल मोमिन अपने बेटों को बता रही कहत पड़ गया है तो इलाज तो पास है तुम उस हुजरे में जो मेरा हुजरा है ऊपर से छत है उसकी जहां पर नबी सलाम का चेहरा मुबारक है ऊपर वहां से रोशनदान बना दो वहां ऊपर जगह खाली कर दो तो हत्तला यकून बैनऊ व बैन समाय सकफुन यहां तक कि नबी सलाम की कबर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा नहीं होना चाहिए कबर आसमान को नंगी नजर आए दरमियान से तुम पर्दा हटा दो अब वो लोग थे यकीन वाले ये नहीं कि अम्मी के खिलाफ हो जाते कि बिदतियों वाला अकीदा पढ़ा रही हो बारिशें तो रब बरसाता है कबर क्या दे सकती है नहीं सारे यकीन वाले लोग थे अपनी अम्मी की बात मान गए मुबारक हक परस्तो तुमने भी आज तक अपनी अम्मी की बात मानी हुई है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अनहा का अकीदा ये अकीदा है हमारे सीनों में कि नबी सलाम की कबर की तरफ मुतवजे किया उनको और कहा कबर से आसमान का भी प्यार है बादलों का भी प्यार है चाहते हो कि तुम्हारा काह दूर हो जाए तो फिर यह रोशनदान बनाओ यहां तक के दरमियान में कोई छत हायल ना हो कबर शरीफ और आसमान के दरमियान आलू सहाबा ने जाकर जगह बनाई मोतेरू बारिश शुरू हो गई बारिश शुरू हो गई हत्ता नबतल अश व नतिल इबिल यहां तक के इतना घास इतनी घास होगी इतनी घास इतना सब्जा कि जानवर खा खा के मोटे हो गए सामिनतिल इबल जो ऊंट थे वो मोटे हो गए हत्ता तफक का तत् मिनशहम इतनी चर्बी चढ़ गई कि फटने लग गया जिसम जानवरों यानी चर्बी की कसरत की वजह से दरारें आना शुरू होगी उसकी खालों में ऐसा आपने देखा होगा देहाती माहौल में कुछ ऐसे जानवरों को मैंने खुद देखा है कि जिस वक्त वो अच्छा खाते पीते हैं और बहुत अच्छा खाते पीते हैं तो ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो ये सीरत में लिखा है फसुम या आमल फतक इस साल को फतक का साल कहा गया फतक का मतलब क्या है कि जिसमें जानवर इतने मोटे हो जाए कि चर्बी फट जाए तो साल का नाम ही जानवरों के फट जाने वाला साल बन गया जानवरों के फट जाने वाला साल आज के जानवरों को कुछ नहीं मिल रहा आज के जानवर जो कहते हैं कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद शिरकिया जुमला है इन जानवरों से कितने अच्छे वो जानवर हैं जो खा खा के मजे लेके उनको सरकार का फैज इतना मिल गया कि सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सलम के सिहाबा ने जिस वक्त जगह बनाई है बारिश हुई और इतनी बारिश हुई इतना सब्जा होगा हालांकि वो पथरीला इलाका वो पहाड़ी इलाका लेकिन इसके बावजूद वो बारिश उस खास किस्म की बारिश थी कि पहाड़ों में भी सब्जा उगा है और इतना सब्जा था कि जानवर खा खा के उनके वारे न्यारे हो गए और उनके फटे हुए पेट भी आज के बुझे हुए दिमागों को बता रहे हैं कि जो महबूब जानवरों पे इतना प्यार करें वो अपने आशकों को कितना नवाजने वाले हैं बताओ हजरत आशा सिद्दीका रदी अल्लाह तला को यही सूरह अनाम की आयत नहीं आती थी ला खजाइन खजाइनुल्लाह कि मेरे पास खजाने नहीं है कह सकती थी मेरे बच्चों रब को याद करो तुम्हारे नबी के पास तो कुछ नहीं है तुम क्यों मेरे पास आए हो लेकिन वो कहती है तुम्हारे नबी के पास बहुत कुछ है वो खुद तो खुद रह गए उनकी कबर शरीफ पर भी रहमतों का नजूल होता है उनकी कबर शरीफ से भी बादलों का बड़ा प्यार है उनकी कबर शरीफ जो है उसका ये अंदाज है कि जहां पर जलाल की तरफ से इतना बरकतों का नजूल होता है तो इसके बाद वो जगह पक्का रोशनदान बना दिया गया इन्होंने सुन्ना तो मदीना इसलिए लिखा कहते आयशा सिद्दीका के विशाल के बाद जिस सदी में भी कहत पड़ा है उन्होंने वो रोशनदान खोला है बारिश शुरू हो गई है ये अंदाज था सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लम की मोहब्बत में वो तरीका मोहब्बत का इन पहली सदियों के अंदर भी यानी आज कोई ये कहे कि इस वक्त के मुसलमानों ने ऐसा तरीका इख्तियार किया नहीं ये तो शुरू से ऐसी मोहब्बत है कि सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लम का ये फैज है काला जैनुद्दीन मरागी वालम अन्न फतल कुआ इन दल शब्द में सुनना तो अहल मदीनत कहने लगे ये रोशन दान खोलना यह अहल मदीना की सुन्नत है अहल मदीना का तरीका है हत्तल आन अब तक ये ऐसा होता है ये हो रहा है यानी मुसन्फ ने जिनका हवाला दिया उनकी सदियों तक ऐसा होता रहा है यफतहूना कुवतन फी सिफल कुब्बतिल हुजरते वो हुजरे का जो कुब्बा है उसके नीचे से वो दरवाजा वो रोशनदान खोलते हैं खोलते जाते हैं तो रबे रब्बे जलाल की तरफ से बारिशों का नजूल हो जाता है यहां पर इन उमूर को बयान करते हुए वफा वफा की जिल्द नंबर चार में महबूब सलाम की दहलीज पर हाजिर होने वालों की जो झोलियां भरती हैं उनका बतौर खास जिक्र किया गया जिसमें इमाम अबू बकर बिन मुकरी और इमाम तबरानी जिनके हम हदीस के हवाले पेश करते हैं इमाम मुकरी कहते हैं मैं और तबरानी और अबू शाह हम हर में रसूल सलाम में बैठे ये नबी सलाम की मस्जिद में मदीना शरीफ में हम बैठे हुए थे वकुन अला और हम अजीबो गरीब हालत में थे परदेश में थे और कोई हमारी मेजबानी के लिए नहीं था असरफीन जू भूख ने नढाल कर दिया वह वासल नजाल कल यौम और ये पूरा दिन भूख में हमारा गुजर रहा था फलम मकाना वक्त ईशा जब ईशा का वक्त आ गया हदर तो कबर नबी सल्लमा मैं नबी सलाम की कबर शरीफ के पास चला गया ये उन पहली सदियों के मुसलमान कहते मैं वहां चला गया फकल तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भूख जिस तरह बिला तमसील बंदा मां को कहता अम्मी पानी यानी आगे जुमला पूरा नहीं करता पानी सही साहब मतलब आ जाता है कि पानी की जरूरत है मुझे पानी दे तो या रसूल अल्लाह अलजू या रसूल अल्लाह वसल्लम भूख कहते जब मैंने ये लफज बोले वन शरफ तो फिर यह कह के मैं वापस आ गया मैंने कुछ ज्यादा झगड़ा नहीं किया सिर्फ मैंने एक बार भूख का अलजू कह के मैं वापस आ गया तो काल अली अबुल कासिम अबुल कासिम मुझे कहने लगी इजलिस फ़इम रिस्क अबिल मौत बस दो ही सूरतें या तो रिस्क आ जाएगा या मौत आ जाएगी यानी ऐसी सूरत हाल बनी हुई थी काल अबू बकर अबू बकर मुकरी जो रावी है वो कहते हैं कम तो आना अबू शेख व तबरानी मैं भी उठा अबू शेख भी उठे और तबरानी भी उठे हम इंतजार कर रहे थे कि अब रहमतों का नजूल कहां से होता है फहादारा बिल बाब अलवीन हजरत अली के खानदान का इंसान एक आ गया एक अलवी आया फतक का फतह ना लहू जहां हम जिस जगह पे बैठे थे जिस उजरे में उसने दरवाजा खटखटाया हमने दरवाजा खोला फैजन माहू गुलामान उसके साथ दो नौजवान माकुल्ल वाहिदिन जम्बील फीह शैन कसीर हर एक ने टोकरा उठाया हुआ था और उसमें बहुत ज्यादा खाने की चीजें मौजूद थी कहते हैं हमने हमारे सामने उन्होंने रखा तो हमने खाया तो हम ये समझ रहे थे कि ये बच्चे जो बैठे हैं जो बचेगा वो लेके चले जाएंगे लेकिन क्या हुआ रनन अनल बाकिया याकुजुल गुलाम जो बचेगा ये नौजवान उठा के ले जाए फवल्ला व तारा कंदन अल बाकी लेकिन वो बच्चे तो चले गए और सब कुछ कहा ये तुम्हारा ही है कहते हैं फलम फरकना मिनत ताम जब हम खा के फारे हुए वो अलवी जिन्होंने आके दरवाजा खटखटाया था वो आ गए और कहा या कौम अशका तुम इला रसूल सल्लाम ए मदीना शरीफ में आने वाले मेरे नबी के मेहमानों तुमने सरकार से जाके शिकायत की तुमने नबी सलाम से जाके कहा और फन्नी रहे तो रसूल अल्लाह सल्लम फिल मनाम मैं अपने घर ईशा के बाद सोई था कि सरकार खाब में तशरीफ ले आए और नबी सलाम अब देखो कहते हैं कि सरकार ने फौरन मुझे झंझोड़ा कि तुम अपने घर मजे में हो मेरे मेहमान भूखे हैं और मैं जो उठा के लाया हूं तो सरकार के हुक्म पर तुम्हारी दावत पका के लाया हूं ऐसे ही इबन जल्लाद का यह कौल है कहते हैं कि जिस वक्त मैं मदीना शरीफ में दाखिल हुआ बी नाका मेरे पास ऊंटनी थी फतकदम तो इल कब्र मैं नबी इस्लाम के रोजा पाक के पास गया कुल तो दैफो का मैंने कहा महबूब तुम्हारा मेहमान आ गया है दैफो का दयूफ रसूल रसूल अल्लाह वसल्लम के मेहमान इस बात से कानून यह बनता है जो मक्का शरीफ में जाए उनको दयूफुल्ला कहा जा और जो मदीना शरीफ में जाए उनको दयूफ रसूल कहा जाए सल्लल्लाहु अल्लाह के महबूब सलाम के मेहमान तो कहते हैं कि जिस वक्त मैंने जाके कहा सिर्फ इतना ही कहा और इसके बाद मैं चला गया जहां मुझे रात जगह मिली मैं जाके सो गया सोया था कि मेरे महबूब ख्वाब में तशरीफ ले आए और ये ख्वाब मिन बजा ख्वाब है मिन बजा बेदारी कैसे कहते हैं मैं सोया मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए कि तू मेरा मेहमान मैं तेरा मेजबान अब मैं आ गया हूं फ आतानी रगीफा तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे रोटी दी क्योंकि मेरा भूख का मसला था सरकार ने रोटी दी अकल तो निस्बहू आदि मैंने ख्वाब में ही खा ली कहते वन तबाह तो वह बेयदी अन निस्फुल आकर जब जागा तो आदि हाथ में मौजूद थी मोहतशम अच्छा सामी हजरत हजरत अबुल खैर अक्ता कहते हैं दखल तो मदीना तबी सल्लम आना बेफाका अकम तो खम सत अयाम कहते हैं मैं मदीना शरीफ में गया और पांच दिन मेरा क्याम रहा और मैं भूखा था मा जुब तो जवा का मैंने कोई चीज मुझे नहीं मिली ऐसे हालात थे कि जिसको मैं खा सकता फतकदम तो इलल कब्र तो मैं भी बिल आकर नबी सलाम के रोज़ा पाक की तरफ मुतवजह हुआ वसलम तो अल नबी सल्लम मैंने नबी सलाम को सलाम कहा वह अला बक अबी बकरीम व उमर और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह तुमा को भी मैंने सलाम कहा वकुल तो आना दैफो का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसलम मैंने कहा महबूब मैं हूं आपका मेहमान ये जुमले मैंने बोले वह तनह है तो मैं बोल के साइड पे हो गया वनिम तो खलफल कबर मैं रोजा पाक की पिछली साइड कबर शरीफ के पीछे जाके मैं सो गया फराई तो फिल्म नाम अन नबी बाबू बकर अन जमीनी व उमर अन शिमाली मैंने देखा कि नबी सलाम तलबागर हैं दाएं हजरत सिद्दीक अकबर हैं बाएं हजरत उमर हैं और सामने हजरत अली बैठे हुए हैं वह अली जुबन अबी तालिब बैन जदई है सामने मौजूद हैं फहर्रा अली अली ने आके मुझे जगाया हजरत अली रजी अल्लाह तला चूंकि आगे आगे चल रहे थे सरकार के दाएं बाएं दोनों असहाब हैं आकर हजरत अली रजी अल्लाह तला ने मुझे जुम्बश दी का कम कब जा रसूल्लाह सल्लल्लाहु बेदार हो जाओ नबी सलाम तशरीफ ले आए हैं हजरत अबुल खैर अक्ता कहते हैं फकुम तो इलई है वकबल तो बैन आए नहीं अभी ख्वाब का ही मसला है कहते मैंने उठा और मैंने उठ को सरकार की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया मैंने महबूब सलाम को जिस वक्त मैं मिला फदाफा अलिया रगीफा सरकार ने मुझे रोटी अता की फाकल तो निस्फा मैंने आधी खा ली वन तबाह तो मैं जागा फाइजन फी जदी निस्फ रगीफ इन आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी यानी ये उम्मत की मुख्तलिफ सदियों में वहां पर जाने वाले लोगों के साथ जो सरकार प्यार करते हैं मोहब्बतें बांटते हैं उसका तस्करा ये इन लोगों के हवाले के साथ वफा वफा के अंदर इमाम समूदी ने जिक्र किया है और बात मुख्तसर करते हुए इबन असाकिर ने अपनी तारीफ में लिखा है साबित बिन अहमद कहते हैं कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में बैठा था आज भी ऐसे वाकयात होते हैं और आज भी ऐसे ही होता है कहते मैं बैठा था तो एक शख्स ने आकर अजान पड़ी उस उसने का असला तो खैर मिनन नौ ये फजर की फिर अजान थी असला तो खैर नौम जब कहा फजा आ खाद खादिन मिल मस्जिद फलाता माहू तो मस्जिद के खुद्दाम में से एक आया उसने आके चपेड़ मारी मुअजिन को ये साबित मिन अहमद कहते हैं मैं देख रहा था कि मुअजिन को खादिम ने यानी जिनको इख्तियार मिला हुआ अपना गलत नाजायज फायदा उठा रहे उसको मुअजिन को जो एक आम प्राइवेट आदमी था कहीं से आया हुआ था उसको आकर खादिम मस्जिद ने चपेड़ मार दी फला तमहू ही न समाजालिक फबकर रजुल तो वो चीख पड़ा आदमी जो अजान दे रहा था और जुमला उसकी जुबान से निकला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम फी हजरत का युफ अलो बी हाजल फेल आपके सामने मुझे मारा जा रहा महबूब आपके सामने मुझे मारा जा रहा देख लो आपके सामने मुझे मारा जा रहा है कहता फफोले जल खादिम यह लफज निकलने की देर थी उस मारने वाले को फालिज हो गया जिसने उस मुजिन को मारा था उसको फालिज हो गया वो लाइला दार ही उसे घर पहुंचाया गया फबा का ससला सतायाम मात तीन दिनों के बाद फारे हो गया मर गया आज भी वहां के मुतवे आज भी जुल्म करने वाले उनकी कई मिसालें मौजूद हैं रसूल अल्लाह वसल्लम की दहरीज पर जिसके दुख दर्द से आंसू निकल जाते हैं सरकार जरूर उसके लिए लजपाली फरमाते हैं तवज्जो होती है और सारे उमूर आज भी मौजूद हैं ये मौजू इसका एक खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया अब आज इस मौजू के लिहाज से और बाकी उमूर के लिहाज से चंद बातें अभी बयान करना बाकी है मगर एक जरूरी बात आपके सामने पेश करना जरूरी है आज के इस मौजू को इख्ताम की तरफ ले जाते हुए इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि हमारा फाहम दीन कोर्स अल्लाह के फजल से बड़ी आबोताब के साथ जारी है और इस वक्त तक गोजरा वाला से बाहर बैरून मुल्क यानी जो वेबसाइट के जरिए से लोगों तक पैगाम पहुंचता है अमरीका तक दुनिया के आखिरी कोने तक तकरीबन आठ नौ हजार अफराद हमारे इस कोर्स में वेबसाइट के जरिए भी शरीक हो चुके हैं और जो बरह रास्त सुनते हैं वो तो अल्लाह के फजल से बहुत बड़ी तादाद है इस लिहाज से कल का मौजूद ताबीन का दीनी जज्बा बड़ा अछूता मौजू है सिहाबा के तस्करे आप सुनते रहते हैं और बाद में जो अलिया जो हमारे जमाने के करीब है उनके तस्करे भी आप सुनते रहते हैं ये दरमियान में जो एक बहुत बड़ी अजीम जमात है ताबीन की इनके हालात बिलूम बयान नहीं किए जाते तो उनकी शख्सियत और किरदार के लिहाज से जो हमारे लिए सबक मौजूद है उस पर मुश्तमिल कल का सबक है जिसमें अकायद भी उनके बयान होंगे नजरियात और अमाल का बयान भी होगा और अतवार के दिन बहुत ही मारकतुल आरा मौजू है अकीद तोहहीद से मुतलक गलत फहमियों का इजाला आप यह जानते हैं कि रबाल ने इदारा सिरात मुस्तकीम को यह तोफीक बख्शी कि हमने अकीद तोहहीद की वजाहत करने के लिए इस माहौल में अल्लाह के फजल से उसकी तोफीक से एक जानदार किरदार अदा किया और अकीद तोहहीद सेमिनार को सुनकर सैकड़ों लोगों ने कलमा पढ़ा और सैकड़ों लोगों हजारों तक उसका फैज पहुंचा इन आखिरी प्रोग्राम जो हो रहा है ना हमारा ये आइंदा जुमेरात को 9 सितंबर को उसमें हम कुछ आपके सामने उसके सैंपल भी पेश करेंगे कि जिन लोगों ने वो अकीद तोहीद की वजह से जिन्हें नूर मिला वो औरों लोगों के लीडर थे इमाम थे और हमारी दावत सुन के उन्होंने अल सुन्नत का अकीदा कबूल किया है तो तो ये अकीद तोही सेमिनार पर उन लोगों ने हर शहर में प्रोग्राम किया हमारा एक सेमिनार उनका बार बार हर जगह हर शहर में लेकिन वो दलाइल जो हमने दिए उसके करीब भी नहीं आए अब आखिरी सेमिनारों तक जो उन्होंने जो कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की हमने चाहा कि हमारा अकीदा तो ही सेमिनार जो तीसरा वो तो अभी बाद में आएगा लेकिन उससे पहले इनको मैसेज दिया जाए कि दो कर्ज तुम पे बाकी हैं और जो कुछ तुमने कहा उसका हमारी दलीलों से कोई ताल्लुक नहीं है अब देखो ना कोई शख्स अगर यह कहना शुरू हो जाए कहे कि गुजरात में हिंदू मुस्लिम फसादात की आग भड़क उठी उसकी इस खबर पर कोई बंदा कहे मैं गुजरात में गया हूं यहां तो कुछ भी नहीं है तो अब यह बंदा जो इस गुजरात की बात कर रहा है इस लिहाज से सच्चा है लेकिन जो उसने बात किया झूठी उसने भी नहीं की कि वो तो इंडिया वाले गुजरात की बात थी पाकिस्तान वाले गुजरात की बात तो नहीं थी वो जहां पे हिंदू मुस्लिम फसादात होते हैं तो इन लोगों की ये बदबख्ती कमबख्ती स्याकारी और कजफामी है कि जो दलायल हमने दिए हैं उनकी तरफ आते ही नहीं और अपने तौर पर जो अलहदा हकीकतें मौजूद है जिनका कोई मुनकर नहीं उन्हें बार बार प्यार करते उन्हें बार बार उन्हें बार बार दोहराते हैं यानी वो पंजा आजमाई दलैल के लिहाज से कर ही नहीं रहे कि हमने जहां पर उनको जाके कुंडी डाली है वो कुंडी छुड़ाए तो फिर पता चले कि मछली जो है वो निकल गई है अल्लाह के फजल से अब उनके जाल की मछलियां उनकी नहीं रहेंगी मदीने की खैरात की हम आएगी तो ये मौजू बड़ा अहम मौजू है इसको आपने समाप्त करना है सताइसवीं की शब को इस मस्जिद में इंशाला बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है नजूल कुरान के सिलसिला में खत्म कुरान मजीद भी है उसमें भी आपने शिरकत करनी है और फिर जुमा रात को नमाज फजर के बाद हक परस्तों के काफले भट्टी मैरिज हाल की तरफ चलेंगे और एक महीने का वो हमारा वजीफा वो हमारा अमल जो हमने अल्लाह के फजल से मुकम्मल करना उसके इख्तामी लम्हात और दुआओं की कबूलियत की घड़ियां होंगी इस वास्ते उसमें मौजू भी बड़ा अहम है इस्लाम मेरी पहचान आज पूरी दुनिया पर इस्लाम के बागी और इस्लाम के दुश्मन जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उसके मुकाबले में अजमत इस्लाम रिफत इस्लाम शौकत इस्लाम के इजहार के लिए वो फाम दीन कॉन्फ्रेंस मुनद की जा रही है जुमेरात नमाज फजर के बाद इन बड़ा पुरनूर प्रोग्राम होगा आप अपने दोस्तों तक भी उस पैगाम को पहुंचाएं और जितने दिनों का प्रोग्राम बाकी रह गए हैं इनमें कोई नागा नहीं होना चाहिए मुकम्मल तौर पर इन प्रोग्रामों का इहतमाम किया जाए ये ऐलान भी जेन में रखें इन ईद उल फितर इस मस्जिद में साढ़े सात बजे अदा की जाएगी तो आप तमाम हजरात ने सात बजे तक पहुंचना है ताकि जब खिताब शुरू हो तो आप मौजूद हो साढ़े सात बजे इंशाला तकरीबन वो जमात खड़ी हो जाएगी ये ऐलानात भी जेन में रखने और ये भी जेन में रखना है। हो सकता है आज का जुमा ही जुमातुलविदा हो इस वास्ते इन अलविदाई लम्हात में अपने गुनाहों को याद करके दुआ भी मांगनी है अपनी बख्शिश और निजात के लिए अल्लाह से इल्तिजा भी करनी है अब नमाज के बाद अपने सारे ख्याल निकाल अपने आप को अल्लाह के दरबार की तरफ मुतवजह करके नबी सलाम के वसीले से हमने रब से रहमतों की भीख मांगनी है इसका भी खसूसी तौर पर आप जहन में रखें रबेजुल जलाल सबको नारे जहन्नम से आजाद फरमाए और जितने दोस्तों ने मस्जिद से ताउन किया है अल्लाह उनको जन्नत में घर आता फरमाए वाखिर दावाना अनिलहमदुल्ला रबीआलमी